जगयेक अपराध पराध हुदाया हुदा आरतिहर शरण सुखदायक दिन नायक आलिमन तर्नहि तो फल पाय की धु दोषा विविध बिलाप प्रति वै दे गौरी सने सीता जी विलाप कर रही थी हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी हे दुखों के हरने वाले हे शरणागत को सुख देने वाले हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है मैंने क्रोध किया उसका फल पाया श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं विपति मोर को प्रभु ही सुनावा चह रास भावा सीता के विलाप सुनिभारी चराचर जीव दुखारि सुनि सुनी आरतबी रघुकुल कुलतिलक नारि पहिचनि अधमनि साचर लीने जाए दिमि मलेक्ष कपिला गाए प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए गृद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी हैं उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है जैसे कपिला गाय मलेक्ष के पाले पड़ गई हो सीते पुत्रे करसि जन हूँ जा तुम धान करनासा धावा क्रोध खग कैसे से पबी पर बत कहु जैसे रे रे दुष्ट के न हो निर्भय चल सिन ही मोही आवत देखि फिर दस कंधर करुमान वह बोला हे सीते पुत्री भय मत कर मैं इस राक्षस का नाश करूंगा यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो उसने ललकार कर कहा रे रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता निडर होकर चल दिया मुझे तूने नहीं जाना उसकी यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर उनमें अनुमान करने लगा कि मैं नाक के खगपति हो मम बल जान सहितपति सो जाना जरठ जतायु एहा मम रथ छाडी देहा सुनत गीध क्रो धातु कह सोनु रावण मोर सिखावा तज जान के हे कुशल गृह जाहो नाहे तयस हो नेहे बाहु यह तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण पर वह गरुण तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला यह तो बूढ़ा जटायु है यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला रावण मेरी सिखावन सुन जानकी जी को छोड़कर कुशलपूर्वक अपने घर चला जा नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि राम रोस पावपयति घोरा हो जिहि सकल सलभकुल तोरा उतरन देत दशाननो धे धा वाो धा हरिक च किन् महि गीरा सीतहि राखी गुद्ध पुनफीरा चोचन मारि विदारे देहि दण्डये कभये मुरछाते श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा योद्धा रावण को छुत्तर नहीं देता तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला इससे उसे घड़ी के लिए मूर्छा हो गई तब सक्रोधन से चरखे सियाना काढ़े से परम कराल कृपाण काट सी पंख पराखग धरणी मिली राम करे अद्भुत करणी सीतह जान चढ़ाए बहोरी चलाउताइल त्रासन थोरी करती बिलाप जाति नभसेता व्याध दिवस जनु मृगे सभीता तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोधयुक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण वही उतावली के साथ चला उसे भय भय कम न था सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरणी हो गिरि पर बैठे कपिन निहारी कही हरि नाम दिन पटदारी एहि विधि सीतहि सोलय गय बनय शोकमह राखत भय हरिफला आरि पराखल बहुविधि भयरुप्रीति देखाय पाद यशोकपादपतर राखस जतन कराय जहि विधि कपट कुरंग संग भाई चले श्री राम सोच से तारा रटति रहत हरिनाम पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया यही जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरिनाम राम नाम रटती रहती हैं